फिर जो उसे बदल डाले उसके बाद के उसे सुन चुका हो तो यकीनन ही लोगों पर उसका गुना है जो उसे बदलें यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है